वो लोग जिन्होंने तकबर किया कहने लगे बेशक जिस चीज पर तुम ईमान लाए हो हम उसका इनकार करने वाले हैं